राधे श्याम रामायण श्री राम कथा श्री राम जन्म बालकांड जय परमेश्वर परम प्रभो परम पुरुष प्रणयामी आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमा कौशले समिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम वाणी वर्णन के प्रथम बोल जय सियावर राम सरयो तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश थे नेपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिने धन्य धान्य पूर्ण था जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन था फाल्गुन था रंग प्रमोद पूर्ण तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण चतुराश्रम का पालन भी था सच्चा व्यवहार मान भी था संगठन चरित्र गठन भी था सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था आंगन आंगन में तुलसी थी घर घर में गोपाल भी था सब था राजा के पुत्र न था दत्तक भी कोई लिया न था विधना ने बेटा दिया न था घर तो था घर का दिया न था पुत्र का मना में हुए निपधिक उदास हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में फिर अर्घ रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में बोले कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका मिला नहीं है चौथा अपन आने वाला हित कमल अभी तक खिला नहीं क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है मैं निर्बल होता जाता हूँ उस प्रबल दुख ने घेरा है ऐसा तरवर क्या तरवर है फल ही जिसमें उत्पन्न न हो वह जलधर ही क्या जलधर है जल ही से जो संपन्न न हो गुरुदेव उपाय वही अब हो जब चित्त प्रफुल्लित हो जाए आँखों में भी आए प्रकाश आत्मा आनंदित हो जाए कम से कम एक पुत्र ही हो जिसमें रघुवंश बढ़े अपना पितरों को बेतरपण पहुँचे आगे को नाम चले अपना देख शिष्य की विकलता बोले से गुरराज ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाता है मुर्दे को चिता जलाती है चिंता जीते को खाती है हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार बेटा कब वंश चलाता है अब तक तो सब महानुभावों ने अपना यश अपना कमाया है क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है ध्रुपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद जैसी आज्ञा हो यही कहा पकड़े ही रहे चरण गुरु के मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के गुरुवन ने तब यह शब्द कहे अच्छा यह दुख दमन कर दो इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो इच्छा है अगर पुत्र ही के पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो ताओगे चार पुत्र राजन भगवान विष्णु का ध्यान करो पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ सिंगे ऋषि को बुलवाना है बेमान तुम्हारे होते हैं उनको आचार्य बनाना है गुरुवर का आदेश सुन मुदत उठे महिपाल आज्ञा यज्ञ प्रबंध का आकर दी तत्काल श्रृंगे ऋषि आए यथा समय सानंद वर्ण स्वीकार किया मानो अथर्व ने ही सदैव आरंभ यज्ञ उपचार किया पूर्णाहुति का जब दिन आया दिशगण ने आशीर्वाद दिया हो अग्निदेव ने स्वयं प्रगण निज कर से खीर प्रसाद दिया बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानंद ने भिजवाया है यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है अवलोक अलौकिक चमत्कार दशरथ को परमानंद हुआ गुरु भक्त दुचंद बढ़ी मन में प्राणों में सुख चौचंद हुआ पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार शालाद राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया उसका आधा कह कई को फिर वही सहित अनुराग दिया से सांग हुआ आधा आधा जिसको कि ले ली ले लिया दोनों ने तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने अभी के बढ़ते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ मानो जग को सूचना मिली संकट रजनी का नाश हुआ प्रगटा वह तेज रानियों में जो नेत्र ज्योति का दाता है खिल उठा अचानक सूर्यवंश अब सूर्यवंश में आता है इसी तरह आनंद में बीत गए नौ मास विश्वबंदे अवतार का समय आ गया पार वृक्षों में पात नवीन खिले सरयो तट सुर कुल हुए बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे फूल कर फूल हुए शीतल सुगंधित मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ त्रिभुवन पति के स्वागत को जगृतमत होकर तैयार हुआ उपसंहार सजाती थी पृथ्वी बालिया खेत में लाला कर ग्रह चक्र अवध पैवारी था लंका पर चक्कर खा खा कर नक्षत्र वार योग लग्न मांगलिक भविष्य बताते थे छा गए विमानों पर सुरगण नव से जयकार सुनाते थे न चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है मंडलेश्वर योग थाम अभिजित सब समय ललाम कौशल्या के धाम में प्रगटे धाम अवध में आनंद छाया लाल कौशल ल्याने जाया देख अनूप रूप बालक का चकित हुआ समाचार सर वत्र सुनाने घाये दासी दास बल को कल्याणे जाया संदेशा निप को पहुँचाया लाल को सल्याने जाया बजी झांझ धुंद भी भेरिया तिले मांगलिक गाँव दशरथ के आनंद आज है ब्रह्मानंद समान नंदन में नैनांजन पाया लाल को सल्या जाया गज का तोरण कल साधिक दोहे बंदनवार नागद सुत बंदी गुण गावे भीड़ बूप के द्वार खजाना निपने खुलवाया लाल को सल्याने जाया मन भ्रष्ट करते थे सुरगण कह जय जगदाधार निराकार निरलेप निरंजन वास गुण साकार विश्व में विक्रम भर आया विश्व में विश्वम भर आया लाल को कल्याण जाया अवध में आनंद छाया लाल को कल्याणे जाया लाल को कल्याणे जाया